कावद भे गिरे रामप्रसादा अवलोकतयप हरत विषादा सरसरिताबन भूमि विभागा जनु ओमगतया नन्दयनुरागा बिटप सब सफल सफोला खग मृग अलि अनुकोला तहि बन अधिक उच्छाहो त्रिविध समीर सुखद सब का हो श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भोगों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है बेले और वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी जाई न बरने मनोहरताए जनुमह करते जनक पहुनाए तब सब लोग नहाई नहाए जनक मुनि आय सुपाई देख देख तरु दरयनुरागे जह तह पुर जन मूल मूल विधि नाना पावन सुन् सुंदर सुधा समान वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब कह राम गुर पठये भरे भरी भार पूज पितर सुर अरित अतिथि गुरु लगे करन फरहार श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेजे तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे विधि बासर बीते चारे राम निरखे नर नारी सुखारी रोहु समाजय रुचि मन माहे बिनु से राम फिरब भल सीता राम संगवन बासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहरि लखन राम दे जही घर भाव बाम विजिते इस प्रकार चार दिन बीत गए श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं दोनों समाज को के मन में ऐसा ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है दाशिन दाशिन दयु हो सब राम समीप बसिय बन जनत हुकाला राम जनते सुमुद मंगल माला अटनु राम गिरे बन थर अशनु अमेय सम कन्दमूल फल सुख समेत संबत दुई साता फल सम हो न जनिय जाता जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन चौदह वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे बीत जाएंगे जाते हुए जान ही न पड़ेंगे यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ सुभाग सहज सुभाय समाज दुहो राम चरण अनुराग सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं हमारे ऐसे भाग्य कहाँ दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है